home. तेरी बहन है माँ के जाइए तो देखते ही और मर जाएगी कि गोपी चंद की जोगी बन जा रही हो तब जो गोपी चंद राजा और जो जोगी बन रहा है तो बेटा तेवाड़ो खार में जाने तक देगी तो गौर बंगाला को मत जाए जब भी तो मेरे खाना माने गोपी चंद ने की माता ने वो इतनी बात कह दी तो बहन से जरूर भी विचार मिलूंगा माता मैंने जब जोग लियो तो मैं बहन को भी जार गया माता ने के एक जो गुरु जन चली गयो तो चंपा दे बचेगी नहीं गंबे दे क्या माता मैंने पाई चंबे दे क्या मैना बंदे माँ ये रे बेटा ये रे गोपी चंद माता को खेणो ये जो माए ने बंगाए और बहन देखते खत्म बेटा तू अगम भी जो पश्चिम भी जो बेटा गौर बंगाला मत जो रे कमर समझावे तेरी माता बेटा तू देख सबड़े चले जो अपने बंगाला को मत चलो जो अरे माता गौर बंगाला में कौन हमारो है जाकि तुम उस बेर बेर में नहाई कर रही कछु भेद तो बता कि बेटा गौर बंगाला में तेरी माँ की तो सु बड़ी बहन है बेटा तू जोगी हो जाएगा और जाते ही देखते खत्म हो जाए हो जाए कि मेरा भाई जोगी बेटा मैं नो समझा रही हूँ अगर भाई तू एक बहन है दूसरो भाई है तो बेटा वो तेरी बहन मर जाएगी गोपी चंद ने अपना दिल में ख्याल करो तो भाई बहन तो, तो जरूर मिले गोपीचंद राजा के खेवेले को माता अगम देखी पश्चिम देखी फिर फिर देखी सब गुजरात देखा मैंने तकत तेजारा माता मैंने सब देख ली गौर बंगाला मैंने देखा नायरी हर नहीं जाने कैसा बनाया, बनाया। वो बंगाला मैंने नहीं देखा है जो परमात्मा ने जाने कैसा बनाया है कैसा नहीं बनाया है तेरा खैबासों में जरूर बंगाला भी देख आऊंगा तो उसकी सूरत ऐसी देखा बंगाला कैसा है कैसा नहीं है और भैंस मिला माता ने सोची गोपी तो नहीं मानेगा गो, जरूर गौर बंगाला अरे बेटा अभी तो सु माता खेरी तुम मेरो खण मान ले गोपीचंद राजा ले दो माता ग्यारह ग्यारह रानी सोलह घर कन्या इनमें मरी ना दो की चार नी परायो धन कैसे मरेगो कैसे मरेगो मैं तो पराई कर दी नहीं ब्याह कर दिया गोना कर दिया शादी कर दी उसकी और इनकी कच्ची बिना हो इनमें उसकी ना मरे वो कैसे मर जाएगी माता कहवे लेगी बेटा ये तो पहला की जाइए मोल की मंगवाई बेटा बहन चंपा माँ की जाई रे जामन जाई देखा मर जाएगी बेटा बापू जो जितरो आए वो जितरो इनको कहाँ को आए ये तो तेरा कोई काका की कोई बाबा की कोई तेरे वो से भाई माँ की जाई है वो तो माँ की जाई तो देखते खत्म होएगी तो गोपीचंद कैसे एक माता के वार्ता सुन करके और एक महलन में सो अपने चलता है और कैसे एक कन्या है वो जो काका बाबा ने जो इसका आगा घेरती Yeah, yeah, yeah. And never, never Yeah. yeri ve tavan ಚೂಡಿಯಾ ಆಯ್ಗೆ ರಾಜ ಕೋಣೆ ಪೇ ಕಾರುಂಗಿ ಸುರ ಸಿಂಗಾರ ರಾಜ ದೇತ ಬಣೆ ಚಾಲೋ ಜೋದಿ ಆಯ್ಗೆ ರಾಜ ಸಿರೆ ಕಾಜಾರ್ಯ ಸುರ ಸಿಂಗಾರ राणी हरि हरि Okay. next one. कन्या ने आकाश घेर लिया पिताजी बहुत बुरी बिचारी कौन करे गो पिता मारा ब्याह सगाई पिता कौन भरे गो कन्या दान रे पिताजी तम तो बन चालिया जो पिताजी कौन या गढ़ का राज्य गो और कौन काई गो तुमने तो गोपी चंद राजा कह बोले गो बेटा मामो करेगो थारा ब्याह सगाई थारो नानो भर दे दो कन्या दान रे बेटा ओ कर्मन मेरे लिखी फकीरी बेटा मेरा कर्म में फकीरी लिख दी नहीं लिखना हारा सो लिख गया मेटन हारा कोई या दुनिया में सर जा नहीं ना वह भैमता रान ने मेरा कर्म में जो लिख दी <coughs> गोपी चल वहां से चल देता है आगे पाटन दे रानी ने आगे घेर दिया राजा जी तुम तो जोगी जा रहे हो मैं कुल पे विश्राम करूंगी कुल पे अगट का राज को डांटूंगी कुल पे फेरू राजा हरी हरी चुड़िया कुल पे करूंगी मैं मेरा सोले सिंगार रे राजा जी तेने बुरी बिचारी गोपी चंद की छाती भरी आई गोपी चंद कह बोले गया तक हर पे फेरो रानी हरी हरी चुड़िया नहीं वाय हरी पहाय कर ली जो सोड़े सिंगार रे करमन मेरे लिखी फकीरी ना तुम तो उसको याद रख जो और उस पर सब काम कर लीजो मेरा कर्म में मैं माता ने जोग लिख दिया तो रानी को बिलकत छोड़ के गोपी चंद तो रानी तो अपने डोडिन पे बिलकती छोड़ के और गोपी चंद एक दरवाजा के बाहर आता है और सारा नगर गोपी चंद सतवादी राजा का आगा गिरता है एक ऐसा राजा पैदा नहीं है सतवाती राजा है बड़ा धर्म का न्याय तोड़ा है और इस नगरी को सारी को और ये ऊपर कह जा रहा है कोई तरह इसको डांटो जावा मत तो कैसे एक सारा नंग्र नर नारी और गोपी चंद के आगे घेरता है और कैसे एक गोपी चंद को वचन सुनाता है ने मोला वीरता खोवल माते ना भाई नर चोला रथ ने मोला वीरता खोवल माते ना खोवे माते ना नींद भर सोवे माते ना भाई नर चोला रथ ने मोला जनता ध्यय बनाई नरक तेरे ध्यय बनी है नरक भक्ति कर ले न ईश्वर की भक्ति कर ले न ईश्वर की कर ले जो ईश्वर के व्यर्था खोवे मत ना होइन चोला रतन मोला बिरथा खोव माइना नर तेरा चोला रतन मोला बिरथा खोव माइना खोव माइना नींद भर सोव माइना नर तेरा चोला रतन मोला बिरथा खोव करो तन बसन नारद मुनि करो तन बसन फंस गयो मोह माया चक्कर फंस गया मोह माया चक्कर में नींद भर सोवे मतला भाई नर चोला रतन मोला बिरथा खोवे माते ना भाई नर चोला रतन मोला था खोवे नरनी दबर सोवे मायते ना भाई नर चोलाई रतन सदेडी नरनारी गुपी चन्दि सुखेर्या मैस् आय मेरे करम लिख दियो पान जोए में ठण वारो सरे जो कोई नाई जी आज मेरे भमाता ने लिखा Why? ராஜனே கோர Jure Jure Jure Virgin, yeah, guy. चंदन बन के सोच लगा भाइयों लिखना हारा सो लिख गया मेटन हारा कोई सरदा नहीं ना अब तो मेरा कर्म में जो लिख लियो ना इस नगरी में मैं रह इतरे खूब सुख पाए तो सब सु माता भेंट कह करके और गोपी चंद राजा चल दी तो जैर गोपी चंद अपने पैदल पैदल चल रहा तो वो राज राजन का ही लड़का तो हाँ नंगे पैर पान में छाला हुआ तावड़ी पड़ रही गोपी चंद घबरा गया जाकर के एक वृक्ष की छाया में बैठे चंद कह गया कोई दिन तो मैं घोड़ान पे चढ़ा और आज मेरा ऐसा भाग जा गया जो मैं पैदल हर पहाड़ में जूती नहीं तो गोपी चंद बैठा बैठा रो लग गया इंद महाराज ने गोपी चंद की टेर सुनी थी तो महाराज ने बद बदल कर दिया छाया कर दी रिमझिम रिमझिम बूंद नैनी नैनी बूंद पड़वा लगी सब तो गोपी चंद का और जो जानो शरीर है जो उसमें तो गोपी चंद फिर वहां से चल दिया तो एक बन ला जा दूजा बन ला जा तीजा बन में बाबा गोरखनाथ का देखे तो धोना लग रहा है और हम्म। गोरखनाथ जी धोना के ऊपर बैठा है बैठा हुआ तो कैसे हे गोपीचंद बाबा गोरखनाथ का धोना पे पहुंचे हैं और कैसे हाथ जोड़ के और गोरखनाथ की सेवा करें कैसे गोरखनाथ की पलक खूटे हैं हाँ। લખણ બપારી મારા લખણ બપારી બીણા જય ગુણ સખીઓ રે vacuum. Bapi cantik gayo ere पकड़ा दोनों पाँव चरणन में तो शीस नवायो चंद गोरख सारे बाबा मुझे लो कर लीजो हिर बाबा मिला ले तेरा मोये भेक बाबा जी मुख चेलो कर बाबा जी सेवा いてねま जोगे गोपी चंद तो जब यार जो राजन कार लड़े का कमर सतवादी ये रे बेटा ये रे बेटा कठन लड़ाई अब जोग रे कमर तो सदवा गुना चंद असल खांडा के धार रे बेटा जोग सदैव बनाए जी जमी का लोटना रे बेटा जमी में हो जाए जे ये बेटा धना लगावे तन में खाकर कंचन काया खाट में ಜಮೀನರಲ್ಲೋಟ ಜೇ बासा कुसा टुकड़ा बेटा कदे रे मिलेगा कदे नाय बे मिलेगा छाती से तर का तो वो जने आवे तेरे याद रे बेटा बासा के